ये भी कह रहा हूं कि ईश्वर के समर्पित रहो दो बातें आ रही है ना मैं कहता हूं मैं आपको बता रहा हूं आप सुन रहे हैं और ये भी कहा गया है कि ईश्वर समर्पित रहना आप कहेंगे दोनों कैसे होती हैं दोनों होती हैं उदाहरण से समझे आप बच्चा छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठा है माँ की गोद में निश्चित है मैं माँ के पास बैठा हूं और एक तीसरा व्यक्ति उसके की बात कहता है वो उसको सुनना चाहता है सुन लेता है पर मां की गोद को नहीं छोड़ता यही पद्धति यहां पर लागू होती पर याद रखना दूसरी पद्धति को अब मेरे लिए सुनिए आप मेरे लिए क्या सुनेंगे ध्यान से पता चलेगा तो सुनेंगे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं परमात्मा की गोद को नहीं छोड़ रहा दोनों पर लागू होता है कुछ समझ में आई बात फिर सुनाओ समझ लो अच्छी तरह से ये कल्पना नहीं है ये विज्ञान है फिर से सुन लीजिए मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो आपको सिखाता हुआ क्या मैं परमात्मा की गोद को छोड़ूंगा वस्तुता छोड़ना नहीं चाहिए यदि मैं छोड़ता हूं तो मेरी कमजोरी है क्या समझ में आया मैं आपको सिखाता भी जाऊंगा और परमात्मा की उपासना को भी नहीं छोड़ूंगा तब मेरी निपुणता है मैं सफल हूं यदि आपको सिखाता हुआ मैं परमात्मा को छोड़ देता हूं तो मैं विफल हो गया आधा चौथाई पूर्णता नहीं मानी जा सकती कश्मीर के लोग पहाड़ों पर चलते बर्फ जमती एक अंगीठी गले में बांध के चलते वो अंगीठी जो गले में बांध के चलते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या अंगीठी को छोड़ते हैं वो नहीं आई बात समझ हम्म क्या समझ में आया अंगीठी को बांधे रहते हैं अंगीठी को छोड़ देवे तो खून जम जाए अंगीठी को नहीं छोड़ते और दूसरे से बात करते हैं परमात्मा रूपी अंगीठी को नहीं छोड़ता वो व्यक्ति और दूसरे से बात करता है छोड़ता तो खून जम जाता कुछ तो समझ में आया होगा ध्यान दो विज्ञान है ये अग्नि मेरे पास है मैं अग्नि के सानिध्य को छोड़ू तो मुझे शीत पीड़ा देगा ही मैं अग्नि को अपने पास रखता हूं और दूसरे व्यापार करता जाता हूं ऐसे ही व्यक्ति परमात्मा की उपासना में रहता हुआ दूसरे को बात सुनाता दूसरे की बात सुनता चलता हुआ ईश्वर की उपासना में रहता बैठा हुआ ईश्वर की उपासना में रहता पर परमात्मा को तो नहीं छोड़ता हूं अच्छा आप चलते हैं फिरते हैं लेटते हैं तो क्या अपने कंबल को चद्दर को छोड़ते हो क्या नहीं आई बात समझ में अपनी रजाई को छोड़ते हो क्या अपने कोट को कंबल को छोड़ते हो क्या क्यों नहीं छोड़ते शीत में छुटल जाएंगे आप इसी प्रकार परमात्मा का उपासक यदि भगवान को छोड़ता है तो मारा जाता है आक्रमण होता है अज्ञान घेर लेता है उसको अधर्म घेर लेता है उसको और विविध कलेश उसको पीसते हैं इसलिए भगवान को क्यों छोड़े वो नहीं छोड़ता कुछ समझ में आई बात दो क्षेत्रों में बात समझाई मैंने आपको मैं आपको सुना रहा हूं सुनो और आप भगवान को तो भूल गए मेरी बात सुनने लगे तो अध कचरा बना गया आधी बात चली गई आधा नुकसान हो गया पूरी यदि उपलब्धि करनी हो तो क्या करोगे मैं भगवान की गोद में बैठा हूं और स्वामी जी की बात सुन रहा हूं बस ये निपुणता है अच्छा मैं आपको सिखा रहा हूं और मैं अपने आप को ये मानता हूं मैं भगवान की गोद में बैठा हूं और आपको सिखा रहा हूं तो मैं निपुण हूं सफल हूं अन्यथा मैं आधा दोषी हूं कुछ तो समझ में आई अब ये प्रक्रिया जो चल रही थी इसको सुनिए ये वो पद्धति है जिसमें एक शब्द को लंबा बना के अर्थ का विचार किया जाता है अब जो हमने बोली समझ में आई भू को हमने लंबा बनाया ध्यान देना भू काल में हमने क्या किया मन में ध्यान देना आप प्राणों के भी प्राण हैं आप जीवन देने वाले हैं इसको भावना कहते हैं पकड़माई बात फिर से सुनिए भू को हमने लंबा कर दिया पर इतने काल में हमने क्या सोचा हे ईश्वर है आप जीवन देने वाले हैं आप प्राणों के भी प्राण हैं ये कहलाएगी भावना यदि साथ साथ न कर पाओ तो क्या करोगे रुको भू को बोला रुक गए साथ साथ नहीं कर पाए कोई घबराने की बात नहीं है जब रुके तब कहा हे ईश्वर है आप प्राणों के भी यही सही यदि साथ साथ नहीं होता तो जब रुको तब करो ये ध्यान की विधि सिखाई जा रही है ध्यान का प्रकार है ये वैदिक पद्धति है कल्पना बिल्कुल नहीं है ध्यान दो यदि साथ साथ करते हो तो बहुत अच्छा यदि साथ साथ नहीं होता तो जब रुको तब कहो हे ईश्वर है आप प्राणों के भी जीवन देने वाले हैं कुछ समझ में आई बात साथ साथ करो अथवा रुक के करो एक बात ध्यान देने की है जिस काल में आप ध्यान करते हैं उस काल में दूसरे विषय को मत उठाओ दोहराइए क्या समझ में आया जिस काल में उच्चारण करते हो उस समय अन्य विषय को मत उठाओ हाँ जी उठाया जाता है विषय को मत उठाओ अर्थात विषय को उठाया जाता है विषय स्वयं नहीं आएगा तीन काल में नहीं आएगा मैंने अपने परीक्षण बताए मैं अब आंख खोल के बैठता हूं आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा बैठूंगा मैं कल्पना कीजिए बिना मेरी इच्छा के कोई विचार नहीं आ सके कोई विचार नहीं आ सकता आ ही नहीं सकता बहुत लंबे परीक्षण किए आएगा ही नहीं कभी नहीं आएगा पहले मैं आंख बंद करके ही इस स्थिति को बना पाता था आंख खोल के नहीं बना सकता था अब मैं आंख खोल के बना दे अब मैं बैठा हूं कोई विचार नहीं आएगा परीक्षण करके देख लो शरीर जड़ पदार्थ है इंद्रियां भी जड़ पदार्थ है मन भी जड़ पदार्थ है आत्मा चेतन है मैं आत्मा मैं चलाता हूं अब मैं चलाऊंगा ही नहीं तो आएगा कहां से कुछ समझ में आई बात अब उस काल में अन्य विषय को मत उठाओ अगली बात समझो आप भू बोल रहे होते हैं और भू बोलते बोलते मन में आया कि मेरा समय दफ्तर में जाने का है कभी देर तो नहीं हो जाएगी बीच में ये उठा लिया आपने ऐसा नहीं करना यदि उठ जाए तो क्या करो फिट रोको नहीं उठाना ये तो लाखों बार करना पड़ेगा एक बार करने से काम नहीं चलेगा करोड़ों बार करना पड़ेगा मासों और वर्षों तक करना पड़ेगा ये मैं आपको सुना रहा हूं अड़तालीस पचास वर्ष की खोज है जो मैं आपको बता रहा ये सिद्धियां बता रहा हूं अब ध्यान दो आप देखेंगे अच्छी तरह देख लीजिए मंत्र बोलता हुआ व्यक्ति अन्य विषय को उठाता है उठाता है या नहीं उठाता है हाँ जी उठाता है ये निश्चित हुआ जब अन्य विषय को उठा सकता है वो तो मंत्र बोलता हुआ भगवान की स्तुति भी कर सकता है इसका मतलब ये निकला क्या समझ में आया आप मेरे साथ साथ चल रही हो से बैठे हो चुपचाप ऐसे काम चलने वाला नहीं है पुरुष तेज है ये फिर भी मंद है तेजी से चलो फिर से सुनो एक व्यक्ति कहता है हम ओम भूर भू बोले और अर्थ का विचार करें ये कैसे हो सकता है हमने कहा सुन लो आप ओम भूर बोलते हुए दफ्तर की बात क्यों विचार लेते हो बीच बीच में ओम भू स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से घर की बात सोच गया मंडी की सोच गया व्यापार की से खेती बाड़ी की वो कैसे सोच लेते हो मंत्र पाठ भी करते हैं और विचार भी करते हैं करते हैं नहीं करते ये मंत्र पाठ करते समय अन्य विचार हो सकता है तो मंत्र पाठ करते समय भगवान का ध्यान भी तो हो सकता है भाई इतना अंतर है अन्य विषय को मत उठाओ आप चाहे मैं अन्य विषय को भी उठाऊं और भगवान का ध्यान भी करूं और पाठ भी करूं ये कठिनाई हो सकती है कुछ समझ में आई बात तीन काम करना चाहते हैं आप वहां पर तीन क्या क्या मंत्र पाठ एक भगवान की स्तुति दो और लौकिक विषयों का भी विचार करें साथ साथ ये तीन काम करना चाहता है वो आप ये कहते ना मन नहीं रुक रहा उसमें बीमारी क्या है भगवान का भजन करने बैठ गया भगवान के भजन की इच्छा तो इतनी थी नहीं इच्छा थी उसकी चाय पीने की अभी भी चाय का समय और बैठ गया भगवान के ध्यान में एक और चाय की इच्छा एक और भगवान की इच्छा चाय की इच्छा तीव्र है भगवान की इच्छा मंद है तो चाय की ओर जाएगा मन भगवान की ओर नहीं जाएगा सभी विषयों में लागू होगा ये पकड़ में तो आ रहे कम से कम पहली बात पकड़ने की है बौद्धिक स्तर पर आनी चाहिए बात फिर मनन फिर निधि ध्यासन और फिर व्यवहार काल चार बातों से विद्या आती है याद रखना श्रवण बड़े ध्यान से सुनो प्रेम से सुनो बड़ी पेपर कार्ड की तरह करते जाओ आत्मा मन के साथ मन कान के साथ कान बोलने वाले गुरु के शब्दार संबंध के साथ कैसे सुनोगे अब चुप बैठे हो कैसे सुनोगे कुछ आवाज नहीं पुरुष भी नहीं बोल रहे माता आत्मा मन के साथ मन कान के साथ कान बोलने वाले आचार्य के शब्द अर्थ संबंध के साथ एक प्रकार होता है सुनना आ गया या नहीं आया आत्मा मन के साथ मन कान के साथ कान गुरु जी के शब्द अर्थ संबंध के साथ ये सुनने की पद्धति है जो ऐसे सुन लेता है उसके जीवन में वो विचारधारा अंदर प्रवेश कर जाएगी विद्या की प्राप्ति होगी अन्यथा विद्या की प्राप्ति नहीं होती श्रवण हो गया फिर जाके मनन करना विचार मंत्र करना फिर ध्यान अवस्थित होकर निर्णय करना मैंने जो सुना था वो बिल्कुल ठीक है कोई संदेह नहीं है शत प्रतिशत सत्य है ये निधि ध्यास कहलाता है श्रवण एक मनन दो निधि ध्यासन और साक्षात्कार तब विद्या आती है हां हम जहां चल रहे थे वहीं फिर पहुंचिए वो जो हम पाठ करते हैं भू का उस समय ध्यान रखते हैं कि अन्य विषय को न उठाएं पर उठाया जाएगा क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है लाखों बार उठाएंगे करोड़ों बार उठाओ घबराने की बात नहीं है रोक दो फिर उठा दिया फिर रोक दो फिर उठा दिया करोड़ों बार उठने दो रोकते जाओ इसको अभ्यास बोलते हैं हम जीतेंगे कभी निराशावादी नहीं होना है निराशावादी कभी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता कभी भी नहीं बन सकता निराशावादी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता ये कह दो अब ये पद्धति आपको समझ में आई अच्छा एक प्रयोग करके दिखाता हूं आपने भी करना है एक बात को समझाना है व्यक्ति ये मानता जानता सोचता करता है कि मन में विचार आ जाते हैं मन में विचार उठ जाते हैं हम नहीं चाहते विचार उठते रहते हैं आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि विचार उठते हैं या कहां से उठते हैं कौन उठाता है एक बार मेरी बात को सुनो और प्रयोग करो आपने कुछ काम नहीं करना है कुछ काल के लिए क्या समझे कुछ काल के लिए कुछ काम नहीं करना है केवल एक काम करना है कि ये विचार कहां से आ रहे हैं आंख बंद करके बैठ जाएंगे बस एक काम ही संकुचित व्याख्या एक संक्षिप्त व्याख्या करें तो हम इसमें तीन में वर्गीकरण कर लेते हैं एक ईश्वर नाम का पदार्थ है जो सच्चिदानंद स्वरूप जो सायकाल बताया जाता है सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सरस्वतीमान न्यायकारी सृष्टि का कर्ता धरता प्रलय करता वो ईश्वर एक है दो ईश्वर नहीं है सबका ईश्वर एक है हम जीवात्मा अनंत हम नहीं गिन सकते कितने हैं जाति की दृष्टि से हम जीव है क्या है जाति की दृष्टि से हमने इनको जीव कह दिया इनकी संख्या ईश्वर जान सकता है हम नहीं जान सकते ये अनंत है हमारी दृष्टि में ध्यान देना तीसरा पदार्थ वर्गीकरण में प्रकृति कहलाता है ईश्वर जीव प्रकृति प्रकृति में तीन तरह के पदार्थ हैं सत्व रजतम वो भी अनंत है वर्गीकरण करते हैं तो उनको एक मान लेते हैं एक प्रकृति नाम दे दिया जाता है तो ध्यान दो ईश्वर चेतन है विचारक है जानता है जीवात्मा भी चेतन है विचारक है पर और जितना जो कुछ बच गया सबका सब, सब है ये याद रख लीजिए इस ज्ञान विज्ञान के साथ अब फिर प्रयोग करेंगे हम ध्यान दो ज्ञान एक कर्म दो उपासना अब उपासना का प्रयोग होगा ये ज्ञान का प्रयोग था बीच में ऐसा जानो ऐसा करना ऐसा नहीं करना ये ज्ञान विज्ञान का फिर वैसा ही करो ये उपासना होगी तूने हमें उत्पन्न किया Ram Wow. सिखाया गया था कि योगाभ्यास में ध्यान में ईश्वर भक्ति में मुख्य रूपेण तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है स्तुति वाक्य प्रार्थना वाक्य उपासना वाक्य अब प्रार्थना वाक्यों का संगीत के माध्यम से प्रयोग करेंगे ध्यान दें प्रथम पूर्ण पुरुषार्थ करो पूर्ण परिश्रम मेहनत करो उसके पश्चात अच्छे काम की सिद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो बुरे काम की सिद्धि के लिए नहीं तीसरी बात अच्छे काम के लिए भी उसी के लिए प्रार्थना करो जो ईश्वर के नियमानुसार हो अच्छा काम भी ईश्वर के नियमों से विरुद्ध हो तो उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना न करो तीन बातों का ध्यान असत्य को छोड़ने के लिए झूठ को निकालने के लिए मन वाणी शरीर से मिथ्या आचरण को बाहर फेंकने के लिए परिश्रम करो फिर कहो हे सत्यवादी ईश्वर असतो मां सद गमय असत्य से मुझे छुड़ा दो और सत्य की ओर ले चलो फिर अज्ञान का नाश विद्या की वृद्धि करो पुनरपि अविद्या दूर नहीं होती फिर कहो हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर तमसो मां ज्योतिर्गमय अज्ञान से मुझे छुड़ा दो और वेद ज्ञान की ओर ले जाओ दुखों को दूर करो दुखों का विनाश करो एडी से चोटी तक कलेशों को उखाड़ के फेंकने का प्रयत्न करो फिर भी कलेश सताते हैं कहीं मानसिक कहीं शारीरिक फिर कहो हे अमृत तत्व ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमेश्वर है मृत्यु मां मृत्यु आदि दुखों से मुझे अमृतंगमय मोक्ष की प्राप्ति कराओ ऐसा करना अब बोलने का अभ्यास कीजिए क्रिया रूप को झट अधिकार में रखो क्योंकि मन जड़ है साइकिल को अधिकार में रखो क्योंकि साइकिल जड़ है कार को अधिकार में रखो कार जड़ है ओ साथ लेके चलना ओ नाक से सांस ले लीजिए ले लीजिए दूसरे वाक्य का प्रयोग होगा तीसरे वाक्य का प्रयोग होगा मानसिक जप होगा मानसिक प्रार्थना अपनी भाषा में कीजिए धुन आती है नहीं आती इसकी चिंता नहीं है अंत स्थिति में बोलेंगे हे ईश्वर है ऐसा तो माँ सदगमय हे ईश्वर तमसो माँ ज्योतिर्गमय हे ईश्वर मृत्युर्मा अमृतम प्राणायाम भाई ये प्राणायाम तीन करेंगे और मानसिक जप आरम्भ कीजिए and चिदानंद से या जना है श्रेय पथ पर चलूं कामना है ओ मैं सुख कंद से सत चिदानंद से याचना से ये पथ पर चलू काम है कृत कुकर्मों की जब याद आती आंखें हैं अश्रुदारा बहाती कृत कुकर कुछ भी नहीं ईश आराधना की पाया नर्तन पर साधना की कुछ भी नहीं ईश रहा मैं तृष्णा भरी काम मत लो की वासना है ये पुथ पर चलू काम ना है मन में तृष्णा भरी काम मत लो पैकी वासना है से ये पथ पर जलू काम ना भक्त जन की सुनो करुण कविता विश्व दुरितों की हे देव सविता भक्त जन की सुनो करुण कविता विश्व दुरितों की हे देव दिवस सेविता दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भागे श्रेय पथ पर चलू काम नागे दूर कर दीजिए भद्र भर दी जिए भावना से पथ पर चलू कामना है स्वास्थ्य पंथा मनुचरे मगमन चंद्र के तुल्य भगवन स्वस्ति पंथा मनुचरे मैं मघवन सूर्य अरुचंद्र के तुल्य भगवन ज्ञान दू दान दू अखन तापन रहू प्रार्थना है से ये पथ पर चलू कामना गे ज्ञान दू दान दू अखन तापन रहू प्रार्थना है से ये पथ पर चलूं ना है ले चलो सत्य पथ सर्व ज्ञात गोर अख से बचूं छिर निवाता चलो सत्य पथ सर्व ज्ञाता घोर अघ से बचू शिर निवाता मुझे को तो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है श्री पथ पर चलू काम नाहे मुझे को तो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है से ये पथ पर चलू कंद से सचिदानंद से याचना है श्रेय पथ पर जलू कामना है श्रेय पथ पर जलू कामना हृदय से जब सच्ची प्रार्थना ईश्वर की करता है व्यक्ति को प्रेम के आंसू गिरने लगते हैं अब सीखो समझो और अपने जीवन को सफल बनाओ आप बिना